और अगर हम आप पर कागज़ में लिखी हुई किताब नाजिल करते कि जिसे वो अपने हाथों से छूते तब भी कुफ्र करने वाले ज़रूर यही कहते कि खुले जादू के सिवा ये कुछ नहीं